और जिन लोगों ने बुराइयां कमाई तो बुराई का बदला उस जैसा होगा और उनको रसवाई ढांपे होगी कोई उन्हें अल्लाह ताला से बचाने वाला ना होगा गोया उनके चेहरे स्याह रात के टुकड़ों से ढांप दिए गए हैं यही लोग आग वाले हैं वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं